हे राम जी फूल पत्ते और टहनी को मसलने में परिश्रम पड़ता हो बाहर है परमात्मा तो अपना आपा है जैसे सरदार गुजराती सिंधी और मराठा चारों मित्र हैं पुराने दोस्त और एक बार अड़ गए कि यार हमको तो मनुष्य का दर्शन करना है सिंधी बोलता है यार मुखे माण्हू सा मिलूंगा सरदार कहता है मैनू बंदा सी सी गुजराती कहता हमारे मनुष्य ने મળવું છે हिंदी कहता मुझे यार मनुष्य से इंसान से मिलना है अब हिंदी को सरदार को मराठा को मनुष्य मिलना बहुत सरल है क्योंकि पहले मनुष्य है बाद में सिंधी सरदार मराठा अगर उधर नहीं जाते और बाहर मनुष्य खोजते हैं तो रणभूमि में मनुष्य उनको मिलेगा कहा और मिलेगा तो कौन बताएगा कि इसी को मनुष्य बोलते जो तुम हो उसी का नाम मनुष्य है ऐसा बोलने वाला भी तो समझाने वाला भी चाहिए ना मनुष्य की महिमा सुनी न मनुष्य आज श्रेष्ठ तरह ही विद्य थे मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं और चारों ने ठान लिया कि हमें मनुष्य से मिलना है महाभारत में आता है मनुष्य से तरह और कोई नहीं इतना श्रेष्ठ तरह के भगवान को साकार प्रकट कर देता है भगवान का माई बाप बन जाता है भगवान का गुरु मित्र सखा संबंधी स्नेही बाप माँ सब बन जाता है कैसा ही मनुष्य मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं ऐसा मनुष्य कूड़ कपट पार्टीबाजी राग द्वेष बेईमानी करके अपना विनाश करता है तो किसकी जिम्मेदारी आत्मा ही आत्मनो बंधु अपने आप का बंधु बनो अपने आप का दुश्मन मन बनो शास्त्र विरुद्ध कर्म करना अपने आप का दुश्मन बनना जिस किसी से व्यवहार करते हो उसकी गहराई में तुम्हारा परमात्मा धोखेबाजी अब कुछ अपने बनाए कुछ उनसे भिड़ाए ये क्या एक ईश्वर में भेद बुद्धि पैदा करके लड़ाना भटकाना मेरा तेरा इससे अपना ही नुकसान होता है इसलिए सुधर जाओ तो सीजन है नहीं तो बहुत पछताओगे बुरी आदत छोड़ दो लड़ाना भिड़ाना गुटबत्ती ये वो राग द्वेष निंदा छोड़ दो कोई बुरा करता है तो उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि आपकी बुराई हमको ऐसी दिखती है आप में तो बुराई नहीं है आपके मन में है ऐसा हमको लगता है कृपा करके आप अपनी बुराई को निकाल फेंको तो मुझे मेरी पीड़ा मिटेगी तो वो आपका मित्र बन जाएगा लेकिन उसकी बुराई है जरा सी और तुम बड़ा बड़ा के दूसरों के आगे निंदा करोगे तो पाप उसकी बुराई का पाप भी लगेगा और आपका हृदय भी बुरा होगा और आपका पुण्य भी नाश हो जाएगा शांति भी भंग हो जाएगी बुद्धि भी नाश हो जाएगी तो किसी की भी बुराई ना कर निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में कर पड़ोसी पड़ोसी देशवासी देशवासी मेल मिलाप से रहो एक दूसरे के दोष कम करने में मित्रवत करो दोष देखकर शत्रु की शत्रु जैसे दोष देखकर निंदा करता है प्रहार करता है ऐसा ना आपका शरीर नहीं रहेगा आपके तुच्छ कर्म आपको सताएंगे अच्छे कर्म आपकी रक्षा करेंगे उन्नत करेंगे जो भी सेवा कार्य ईमानदारी का अच्छे कर्म भी है खाली तुच्छ कर्म नहीं है खाली तुच्छ कर्म होता तो इधर आप आ ही नहीं सकते टिके ही नहीं सकते संत द्वार पर अपने तुच्छ कर्म बढ़ जाए तो कर्म अपने को टिकने ही नहीं देंगे अगर आपके तुच्छ कर्म ही होते तो आप इधर आ ही नहीं सकते आ भी जाते तो टिक नहीं सकते थे इसलिए भगवान को धन्यवाद दो कि हमारे तुच्छ कर्म नहीं है अच्छे कर्म भी इसलिए तू हमको यहाँ तक लाता है अब हमारे ऐसे कर्म हो जो तुझे भावे जो तिद भावे सो भली कार तू सदा सलामत निरंकार हे निराकार नारायण हे अच्युत हे गोविंद हे अनंत हे प्राण वल्लभ हे पुरुषोत्तमा हे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान तो कण कण में है सुनी सुनाई बात है लेकिन भगवान भगवान आप कैसे हैं आप ही जानते हैं स्थूल रूप में भी आप ही है सूक्ष्म रूप में भी आप ही है कारण रूप में भी आप हैं और इन सब से न्यारे भी आप हैं आप हैं ऐसा कहना भी आपकी सत्ता से होता है सुनना भी आपकी सत्ता से होता है महाराज तुम्हारी गत तुम्हारी गत मत तुम्हें जानो महाराज हे देव એ મારા વાલુડા એવો દી દેખાડ વાલા એવો દી ઉગાડ ભૂલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ જુગ જૂના બંધ ને ના કાંઈ તો સુજાડ વાલા એવો દી દેખાડ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आत्मदेवाय मम देवाय प्रभु देवाय जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी जब से हमने तुमको स्वीकारा प्रभु गुरु के अंदर अथवा कहीं छुट गई मन में श्वास श्वास में नाम जप सुख आवे लासानी ज्ञान आवे लासानी प्रीति जगी है लासानी प्रभु जी मैं ये कुछ पढ़कर नहीं आया आपको जो बता रहा हूं आप प्रभु से प्रेम करते तो बुद्धि परमात्मा में विश्रांति पाती ज्ञान बुद्धि में भगवान का आता है आरोग्य भगवत सत्ता से आता है और सुख भगवत सत्ता का आता है नहीं तो सुख के लिए लोग क्लबों में जाते हैं दारू पीते हैं पर स्त्री गमन करते फिर भी बेचारे दुखी रहते आरोग्य के लिए क्या क्या टॉनिके खाते फिर भी बेचारे कमजोर बीमार रहते हम तो अभी भी धम धमाम स्वस्थ है पचास साल के लोग बुढ़े हो जाते हैं हम सत्तर साल के जवान मेरे गुरुजी नब्बे साल के जवान आत्मरस से तृप्ति रहती नारायण हरि परमात्मा हरि प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी दाता जी हम क्या बदला चुका है सत्संग का है कुछ देने को जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार चंदा भी देखा तारे भी देखे देखा सूरज बरसों जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों आए जब तेरी शरण में आए तो छूट गई मनमानी मन महका लासानी रे भरत भैया को भगवान अणु अणु में नहीं सब रूप भगवान है ऐसा दिखता था सब रूप भगवान है तो सबकी सेवा पूजा भगवान की सेवा पूजा है भरत की ऐसी नजरिया थी हाँ, लक्ष्मण बोलते थे कि ये भगवान की सेवा पूजा सबकी सेवा पूजा हो गई तो श्री राम की पूजा सेवा सारे विश्व की सेवा पूजा हो गई और भरत मानते थे विश्व की सेवा राम जी की सेवा पूजा हो गई तो भरत को कहा जाओ तुम अयोध्या में प्रजारूपी देव की सेवा करो ये मेरी सेवा है ना भरत समझ गए हाँ आप ही की सेवा लक्ष्मण तुम रात्रि को पहरा दो कुटिया कहाँ बनानी ये ध्यान रखो नदी से पानी लाया करो कंदमूल लाया करो मेरी सेवा मेरी सेवा विश्व की सेवा है और भरत जानते विश्व की सेवा प्रभु की सेवा है जिसकी जो नजरिया है कर लो ने भैया हाँ, वो ऐसे ही है सब गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मुड पीछा मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा गुरुदेव की प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता मानता था तो मुझे वैसे मिला एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत संत मिले यह सब मिटे काल जाल जम चोट शीश नमावत डही पड़े सब पापन की पो